हम्म, सूत्र का विषय आज क्या चल रहा सूत्र तो शब्दार्थ इतर इतर अध्यासात शंकर तत्प्रविभाग संज्ञात सर्वभूत रूप ज्ञानम रू शब्द अर्थ के रूत है शब्द सर्वभूत के शब्द का ज्ञान किसमें संयम करेंगे शब्दार्थ प्रत्यय का जो परस्पर अभ्यास होता है मिश्रण होता है शंकर उसके विभाग में संयम करने पर सर्वभूत के शब्दों का ज्ञान होता है शब्द होता है वाचक इससे पहले वाघ इंद्र का व्यापार कहा वाघ वन्य से व अर्थवती तत्र दिया वाघ का तो वाघ इंद्रियम वर्ण व्यंजकम अष्टस्थानकम यथा वाघ इंद्रिय कितने हैं किसके पांच भी होते हैं आठ क्या है अष्ट स्थान कम आठ स्थान अष्टो स्थानी वर्ण का आठ स्थान है लघु कम आठ है उरह शिव तथा जीवा मूलम च दंता नासिक कोष्ठ च च इसमें रघुकंभ में कितने हैं छह या पांच है गिनती करने के लिए तो पुत्र हो जाए कंठ उसके बाद तालु उसके बाद मुर्धा दंत उष्ट कितने हुआ पांच हजार और एक है नासिका छः जीवामूल सात हो गया और के उरह सात से गया एक तो इसमें मुर्धा है मुर्धा है वो नहीं क्या है हाँ मुर्धा के स्थान पर सिर मुर्धा सिर है जीवामूल्य जीवा मूल स्थान है नासिका उष्ट नासिका भी आ गया एक उर है स्थान किसका है या हुआ हम अकार पंचमे लिप्त यणश्चापि संयुक्त उरस्यम तम द्वितियांत अकार पंचमे लिप्त यणिश्चापि संयुक्त उरस्यम तम विजानीया आहुर संयुक्त अकार कंठ है पाणी में शिक्षा में है पंचमे युक्तम पंचम वर्ण वर्ग के यम गण यम न अमा हर हरा हर ह्रस्व में कैसे बोलते हैं हर में हर हर यहाँ से निकल गया किं हिलादयती ब्राह्मण हम हम हर ये सब य व यम गण ये पांच से युक्त हो यण से युक्त हो तो उरस्यम तो मिजाना गृहस्थान छाती ह का स्थान छाती हो जाएगा ह्रस्व कहेंगे तो यहाँ से निकलेगा ह्रस्व हलादयती किं अनुते अनु अन ये छाती वृक्षम तम जानिया कंठम आहुर संयुतम यदि यदि संयोग नहीं केवल ह है तो उसका स्थान है कंठ कंठ्यम सवाद वाघ शब्द से क्या लेना तत्र वाघ वर्ण से वर्तवती वाघ शब्द से क्या लिया वाघ शब्द से तो लेना है वाचक लेना है शब्द पहले कह वाघ इंद्र का व्यापार करके वाघ इंद्र के लिए अर्थ किया सा वाघ वर्ण सेव लोक प्रतीति सिद्धेशु अर्थवती वाक है इंद्रिय वर्ण में ही अर्थवती प्रयोजनवती अर्थ है प्रयोजन यथा लोक प्रतीति सिद्धेशु वर्णेशु लोक में प्रतीति होती ज्ञान होता है प्रतीति सिद्ध वर्ण में ज्ञान होता है ह ल कट ये प्रतीति से निश्चित होता है वर्ण वर्ण में प्रयोजन वाली वाघ इंद्रिय न च वाच की पदे वाचक पद के लिए नहीं वर्ण में वागिंद्र के द्वारा वर्ण का उच्चारण होगा अभिव्यक्ति होगी वाचक शब्द पदे न श्रोत्र व्यापार विषय में निरूपयती वाघ वर्ण से अर्थवती वाघ सदस्य वागिंद्र है वाघ सदस्य तो वागिंद्र है अभी शब्दार्थ प्रत्यय में शब्द कहेंगे शब्द होता है वाचक उसको कहने के लिए वाघ इंद्रिय के लिए कहा वाघ इंद्रिय वर्ण में ही प्रयोजन वाली वर्ण उच्चारण होता है वाघ इंद्रिय के द्वारा श्रोत्र पुनः ध्वनि उदान से वागिंद्रियादिघातिनो यह परिणति भेद वर्णात्मा तेनाकारण परिणतम तन्मात्र विषय वर्ण को विषय कर गया विषय करते श्रोत्रेन्द्रिय ध्वनेर उदान से ध्वनि शब्द उदान वायु वागिंद्रिय अभिघाति न वागिंद्रिय के साथ जो अभिघात जिसका संयोग होता है अभिघात होता है शब्द जनक संयोग अभिघात न उदान से ध्वनि यह परिणति भेद परिणामात्मक परिणाम विशेषक परिणाम परिणति समानार्थक है भेद का विशेष परिणाम विशेष जो शब्द का परिणाम है वर्णात्मा राग इंद्रिय में शब्द का अभिघात तो होता है उसका परिणाम हो गया वर्ण वर्ण आत्मा इससे वर्ण स्वरूप तेना कारण परिणतम श्रोत्र श्रोत्र से वर्ण से परिणत होता है तन्मात्र विषय वर्ण को भी केवल इंद्रिय विषय करती है न तो वाचक विषय श्रोत्र वाचक विषय न बहुग्री समास वाचक विषय को वाचक शब्दों को विषय नहीं करती इंद्रिय सत्र इंद्रिय किंतु वर्ण को वर्ण को ग्रहण करती घट कहेंगे घ अट विसर्ग इस वर्ण का ग्रहण होता है वर्ण का यथा लोक प्रतीति सिद्धे जो वाचक विनती विनती लोकपति सिद्ध वर्ण है वाचक वर्ण से अर्थ ज्ञान वर्ण से ग्रहण होता है अर्थ ज्ञान होता है किंतु वस्तुतः वर्ण से अर्थ प्रसिद्ध नहीं है वाचक तो है शब्द पदम पद से अर्थ ज्ञान होता है वर्ण ग कहेंगे गौ में ग है गरल में ग है गृह में ग है गोष्ठी में ग है कितने स्थान में ग है तो ग कहेंगे तो अर्थ ज्ञान नहीं होता है पद गौ गोष्ठी ऐसे शब्द कहेंगे तो अर्थ ज्ञान होगा खड़ग मिग तो वर्ण अर्थ प्रतीति जनक नहीं पद है वर्ण भी वाचक भिन्न थी वर्ण से वाचक भिन्न है पदम श्रोत्र से ध्वनि परिणाम मात्र विषय श्रोत्र इंद्रिय ध्वनि के परिणाम मात्र को विषय करती है ध्वनि ध्वनि का जो परिणाम है ध्वनि है उदान वायु उसके वागिंद्र के साथ अभिज्ञात होगा उसका जो परिणाम वर्ण है उसको विषय करती श्रवण इंद्रिय पदम पुनर् नादान सहार बुद्धि निर्ग्राह्यम इति सहार बुद्धि निर्ग्राह्यम पद का ग्रहण कैसे होगा किस इंद्रिय से श्रवण इंद्रिय के द्वारा वर्ण का ग्रहण होगा वाघ इंद्रिय के द्वारा उच्चारण वर्ण का है तो फिर पद का तो ज्ञान होता है घट एक पदम तो पद ज्ञान कैसे होगा नादानुसार बुद्धि निर्ग्राह्य नाद का अनुसंहार नाद सुनकर के पीछे संहार मेलन होता है जैसे वर्ण शब्द सुनते हैं नाद अनुसंहार मिल करके एक होकर के उसी बुद्धि से ग्राह्य होता है पदम की एकम पदम गौ औ विसर्ग सुन करके नाद के अनुसार अनुपीछे सुन ग्रहण के पीछे एक मिलन होता है गौ औ विसर्ग मिल करके उसी गौ बुद्धि के द्वारा मेलन तीनों वर्ण के मेलन होने पर गौरी एकम पदम ये बुद्धि के द्वारा ग्राह्य होता है गौ इति पदम टीका में देखा पदम पुनर्वाचकम वाचक पर्ण पद है पदम पुनर्वाच पद है वाचक वर्ण नहीं नादान सहार बुद्धि निर्ग्राह्यम यथा प्रतीति सिद्धा नादान वर्णान प्रतीति सिद्ध होता है वर्ण नाद शब्द है वर्णों का प्रत्येकम गृहित्व प्रत्येक वर्ण ग औ विसर्ग कितने वर्ण है गौ सर्ग में कठिन है ग औ विसर्ग तीन वर्ण ग्रहण करके वर्णान प्रत्येक गृहत्वा अनुसंहार अनुका पश्चात प्रत्येक वर्ण के ज्ञान होने के बाद फिर मिल करके या संहरती एकत्व आपादयति गौरी एतद एकम पदमिति या बुद्धि ये बुद्धि अनुसार में फिर मिलन करती बुद्धि एकत्व आपादी रहती एकत्व वस्तुतः तो वर्ण तीन वर्ण में घट कितने वर्ण है एक विसर्ग भी है पांच वर्ण है तो एकत्व उसमें है ही नहीं एकत्व आपादन करती बुद्धि इति एकम पदम ये जो एक पद ऐसी बुद्धि होती है इसी बुद्धि के द्वारा तया पदम गृहते नादानुसार बुद्धि के द्वारा ग्राह्य होता है पद तया बुद्धिया पदम गृहते यद्यपि प्राचीयोपि बुद्धयो वर्णाकार पदम है प्रत्येक गोचर पहले जो बुद्धि है गौ का बुद्धि गौ की बुद्धि औ की विसर्ग की बुद्धि है वर्णाकार पदमेव प्रत्येक गोचर है जो वर्ण है आकार जिसका पद का आकार तो वर्ण मिलकर के पद है ग औ विसर्ग जैसे पट तंत्वात्मक है जैसे पद तो वर्णात्मक है वर्णात्मक तो ग्रहण करते अलग अलग बुद्धि घट के पहले घट इति एकम पदम इसे बुद्धि होने के पहले घ अ ट्र अ विसर्ग पांच वर्ण विसर्ग बुद्धि है और पद तो वर्णाकार ही है जो घट है उसमें घ वर्ण है अट ऐसे वर्णाकार है पद प्रत्येक को विषय करती है प्राच्यो की बुद्धय पूर्व बुद्धि घट कि एक पद एकम पदम ऐसे बुद्धि होने के पूर्व कितने वर्ण विषय का पद है घट में पांच बुद्धि हुई पांच जो बुद्धि हुई अभी प्रत्येक को विषय करते हैं घटित एक पद में जो वर्ण है घ अट आदि विषय करते हैं तथा न विशदम प्रथते विषद स्पष्ट उसमें प्रथ प्रख्या नहीं है प्रतीत स्पष्ट नहीं होता है ये वर्ण ए, कौन सा पद है घ इतने कह देने से निश्चय हो जाएगा घट और का दूसरा कोई शब्द हो सकता है घ अ कहा से दूसरा शब्द हो सकता है क्या होगा घन घन होगा और कुछ हो सकता है बहुत शब्द हो सकता है इसलिए स्पष्ट नहीं होता है क्या वर्णा सब मिल करके एक बुद्धि उनसे थे एकम पदम चरमे में तो विज्ञान है तद अति विशदमिति और सब अंतिम ज्ञान होकर के ज्ञान तो स्पष्ट होता है इसीलिए नादानुसार बुद्धि निर्ग्राह्य उत्तम नादों का अनुसार नादों का ग्रहण करके उसके बाद अनुसार मिलन होती मिलन करती है बुद्धि अनुसार बुद्धि मिलन बुद्धि के द्वारा ग्राह्य होता है पदम यस्तु वैयात्याद एक पदानुभव अभिज्ञा वर्णान एवं वाचकान आतिष्ठते तम प्रत्याह कोई कहते कि पद नाम का अलग क्या वस्तु है घट पांच वर्ण है गौ तीन वर्ण है उसी से अर्थ ज्ञान हो जाएगा व्याकरण में स्फोट मानते हैं वर्ण का स्फोट जैसे पद का भी स्फोट है वाक्य स्फोट जैसे अलग अलग मानते हैं तो वर्ण से अलग पद मानते हैं कोई कहते वर्ण से अलग पद कहाँ है घ अट पांच बन रहे ऐसे तंतु से भिन्न पट है ही नहीं ऐसे घ अट भिन्न पद वर्ण से भिन्न कहाँ पद दिखता है ऐसे कल्पना करते पांच मिलकर के पद हुआ एक साथ उच्चारण होता है ना नहीं घट एक साथ नहीं होता क्रम से होता है तो पांच वर्ण का मेलन हो जाएगा उच्चारण एक साथ उच्चारण घट समय घ नष्ट हो जाता है नायक लोग कहते शब्द की उत्पत्ति द्वितीय क्षण स्थिति तृतीय क्षण में नाश घ अट उपादेशन घकार नष्ट हो जाएगा मेलन नहीं हो सकता है तो कहते वर्ण यस्तु वैयात्या वैयात्य शब्द है साहस होता है निर्लज होता है साहस से निर्लज होकर के ऐसा जो कहे वैजात्य बनाए के शब्द से नित्यत्वादिना वर्ण विलक्षणिया नाशो वर्णातिरेकेण एक पदमिति पदस्फोटम अनुभवित असकत इति भाव तो वैजात्य कोटा के शब्द तो नित्य है तो वर्ण विलक्षण विलक्षण से वर्ण अतिरिक्त हाँ स्फोट जो स्फोट मानते हैं तो स्फोट नाम शब्द नित्य है वर्ण से विलक्षण है किंतु उसका अनुभव वर्ण से अतिरिक्त नहीं होता है एक पदम इतम स्फोट अनुभव नहीं हो सकता है इसलिए कहते वर्ण वैजात्यादि से पाठ होता है टिप्पणी में यस्तु उपवर्ष आर्य उपवर्ष चार्यमत्ता अनुयायी सबर स्वामी कुमार आचार्य मत मतान्वय वैजात्य से रखा है पाठ पाठ भेद है यस्तु वैजात्या उपवर्ष आचार्य अनुय लिखा है ना टिप्पणी में मीमांसा के लोग व्याकरण व्याकरण मत स्फोट मीमांसा के लोग कहते कोई अलग पद है नहीं वर्ण की अपेक्षा तो यस्तु वैजात्यादि से पात्र का विलक्षण होने से एक पदानुभव अभिज्ञा वर्ण से भिन्न पद अनेक वर्ण वाला ऐसा अनुभव नहीं होता विलक्षण अकार से अतिरिक्त घट विसर्ग छोड़ करके विलक्षण कोई घट पद अनुभव नहीं होता है तो पद अनुभव अभिज्ञा वर्णान एवं वाचकान आतिष्ठते वर्ण ही वाचक इसे प्रतिज्ञा करते हैं आंग प्रतिष्ठाया आत्मनिर्भर होता है प्रतिष्ठा करते हैं मतलब प्रतिज्ञा करते हैं आंग प्रतिज्ञाया तम प्रत्या उनके प्रति कहते वर्णा एक समय असंभव असंभवित्वाद परस्पर निरनुग्रहात्मान ते पदम असंस्पृश्यानुत्थाप्याविर्भूता तिरुभूताचेति प्रत्येक अपद स्वरूप उच्यंत प्रत्येक वर्ण पद नहीं है एक समय असंभावित्वाद वर्णा गौ में तीन वर्ण एक साथ रहेंगे उच्चारण तो एक साथ नहीं होता है किंतु जैसे घट की उत्पत्ति एक साथ नहीं होने पर भी कुलाल सो घट बनाता है सो घट एक साथ रह सकते हैं रहता है ये नहीं कि दूसरा तीसरा दसवा घट बनाते समय पहले घट नष्ट होता है उत्पत्ति क्रम से होने पर एक समय भी तो रह सकते हैं इसी प्रकार वर्ण की उत्पत्ति क्रम से हो किंतु एक समय में सब मिलकर रहे ये कहते ये भी नहीं है एक समय असंभावित आप मिलकर नहीं रह सकते नष्ट हो जाते हैं का परस्पर न कौन किसका उपकार करेगा रहे तो उपकार करेंगे नष्ट हो गया तो मरने के बाद क्या उन उपकार करेगा ना उपकृत होगा परस्पर न अनुग्रह रहित है ते पदम असंस्पृश्य पदों का संस्पर्श संबंध नहीं करके पद के साथ कोई संबंध नहीं हुआ वर्ण अनुष्ठाप्य आविर्भूता पद की उपस्थिति के बिना प्रकट हो गए तिरभूताश्च वर्णा उच्चारण प्रकट हो गए फिर तिरभूता छिप के दिखता नहीं सुनने में नहीं आएगा यदि प्रत्येकम अपद स्वरूप अच्छे प्रत्येकम कह वर्णा प्रत्येक पद है ना एक एक वर्ण है अपद स्वरूप प्रत्येक वर्ण पद ने अपद है ठीक है नहीं ते खलु हमें वर्ण प्रत्येक वाच्य विषयान धियम नागदंत का शिक्यालंबनम संहता व ग्रावाण पिठर धारणम मीमांसक लोग कहते वर्ण ही वाचक है अलग पद नहीं है तो वैयाकरण लोग पूछते हैं ते खलु हमें वर्ण प्रत्येकम जो वर्ण अर्थ को कहेंगे प्रत्येक वर्ण मिल करके नहीं नहीं मिल करके प्रत्येक वर्ण वाच्य विषयान धीरम आधीरम वाच्य अर्थ को विषय करने वाले बुद्धि का जनक होंगे प्रत्येक वर्ण एक एक वर्ण जैसे नागदंत का वो सिक्यावलंबनम शिक्ष दूध दधी रखने के लिए सिक्के है उसको लटक के रखते लटकाने के लिए ऊपर कितने चाहिए हम्म कितने चाहिए किल एक एक किल होने से उसमें लटका देते हैं इसको होते हैं नाग तक दीवार जैसे लगा देते हैं उसमें हाथी दाथी जैसे तो उसमें लटका देते हैं नागदंत का सिक्के आलम्बनम सिक्के का आलम्बन नागदंत एक होकर के दूध दही उसमें रखते रह जाता है और दूसरा है सहता व ग्रावाण व पिठधारण ग्रावाण क्या है महलो ग्रावण सद पत्थर है मिलकर के पिठर धारण डिग्जी तावा आदि रखेंगे भजन बनाने के लिए तीन पत्थर रख करके उसको डिग्जी रखते देते भजन बन सकता है दो में <laughs> ले जा रही थी तीन रखने से ठीक रहेगा दो डेक्सी अगर दो रखेंगे तो हाँ ऐसे दो ईट अगर रखेंगे तो होगा नहीं तो तीन ना सही तो ग्रावाण इव ग्रावाण पत्थर है संहता इव पीठ धारण मिल करके पत्थर के समान जैसे पीठ बर्तन धारण करते हैं इसी प्रकार वर्ण मिल करके अर्थ को अर्थ ज्ञान कराएंगे या प्रत्येक वर्ण अर्थ ज्ञान कराएंगे ये विकल्प है व्याकरण लोग कह रहे हैं न तावत प्रथम कल्प एक एक वर्ण एक कील में सिक्का तो बांध देते शिकर हो जाए सिक्का किंतु एक वर्ण से अर्थ ज्ञान गकार कह दिया गौ का ज्ञान हो जाएगा या गौरव ज्ञान होगा गौ तो कितने स्थान है गगन में भी है इसलिए अर्थ ज्ञान नहीं होता है एक अर्थ प्रतीत अनुत्पत्ति एक कस्मात एक वर्ण से अर्थ प्रतीत नहीं होती है उत्पत्त होगा यदि एक वर्ण सुन करके अर्थ ज्ञान हो गया आगे अन्य वर्ण उच्चारण करना व्यर्थ है ग सुनते हैं अधोग्रह अधोग्रह यदि एक वर्ण से अर्थ ज्ञान हो जाए द्वितीयादि नाम अनुच्चारण प्रसंग द्वितीयादि तृतीय तृतीयादि वर्ण का उच्चारण करना जरूरत तो नहीं व्यर्थ है निष्पादित क्रिय कर्मणि विशेषाणाधायी न साधन से साधन न्यायातिपाता निष्पादित क्रिय कर्मणि निष्पादित क्रिया यस्य कर्मण तत्कर्म निष्पादित क्रियम ये न कर्मा जिस कर्म से क्रिया की उत्पत्ति हो गई कर्म होने के बाद क्रिया होगी निष्पादित क्रिय कर्म में कर्म में क्रिया हो जाने के बाद ये छेदन हो गया का कुठार से कुठार में कर्म होता है तो क्रिया कार्य द्वैती भाव छेदन जब हो गया तो वहाँ कुठार फिर क्या करेगा दो भाग करना था कुछ करेगा भोजन पचन हो पाक हो गया फिर उसको लेकर गर्म रखना अग्नि जलाना निष्पादित क्रिय कर्मणि विशेष अनादय न साधन से जो साधन विशेष कुछ नहीं करता है विशेष को उत्पत्ति नहीं करने वाले कुछ लोग सांप को मारते हैं मर गया सर्प पहले तो डर कर रहेंगे मर जाने के बाद आकर के पीटते हैं जो डरपोक है पहले तो नहीं आएंगे दूर भागेंगे स्पष्ट हो गया मर गया तो आकर के दूसरे पार पीटे पीटेंगे यदि दो पार तीन पार पीटे कौन सा प्रहार साधन होगा सर्प मारने के लिए उसे कुछ होता नहीं जो था हो गया और उसको टुकड़ा करना कुछ नहीं तो विशेष अनाधायन साधन से विशेष उत्पन्न नहीं करने वाले जो साधन है साधन न्याय अति पाता तो साधन के न्याय को अतिक्रम कर लिया उसको साधन कहा जाएगा सर्प मारने का साधन नहीं होगा प्रहार हो समार इस प्रकार छेदन करने के बाद कुठार से लेकर पिटा और कुठार पिटने क्या छेदन हो गया और उसको अलग साइज करना वाले काम जो छेदन करने के लिए जो था उसके लिए कुठार आगे कुठार के द्वारा जितने पिटो वो साधन नहीं है जो करना था कार्य हो गया इसी प्रकार वर्ण से यदि अर्थ ज्ञान हो गया फिर उस अर्थ ज्ञान करने के लिए अन्य वर्ण उच्चारण करना अन्य वर्ण उसका अन्य वर्ण उसका साधन नहीं होगा अर्थात द्वितीयादि वर्ण उच्चारण व्यर्थ हो जाएगा यदि प्रथम वर्ण से अर्थ ज्ञान हो गया इसलिए एक वर्ण से अर्थ प्रतीति जो प्रथम कल्प ठीक नहीं है तस्मात द्वितीय परिशिष्य द्वितीय वाक्य बचा है द्वितीय क्या है सवर्ण मिल करके अर्थ ज्ञान कराएंगे संभवती ग्रावणाम संहतानाम पिठधारणम एक समय धावित्वात एक समय में रह करके पत्थर तीन मिल करके पिठर धारण कर सकते हैं संभवती हाँ, संभवती ही ग्रावणाम ग्रावण शब्द है ग्रावणाम सहतानाम पत्थर संहत होकर के मिल करके पिठ धारण संभव एक समय भावित्वात एक समय भवंती एक समय भावी न ग्रावाण एक समय में रहने से तीनों मिलकर के पिठ धारण कर लेंगे और वर्ण इस प्रकार से ज्ञान कराए मिलकर के वर्णा नाम तो योगपद्या संभव वर्ण पद एक साथ होंगे मिलेंगे नहीं अलग अलग उच्चारण होता है उत्पत्ति नाशक यौगपद्य संभव नहीं अतः परस्परम अनुग्राह अनुग्राह तत्व आएगा था परस्पर अनुग्राह अनुग्राह का भाव नहीं है कोई किसका अनुग्रह करेगा तीन पत्थर में पिठर रखेंगे तो कोई पत्थर किसका अनुग्रह तो होता है या नहीं नहीं एक पत्थर हटा देंगे तो रहेगा पर, परस्पर अनुग्राह अनुग्राह का भाव है सब तो तीनों परस्पर को अनुग्रह करते हैं धारण को मिल करके किंतु वर्ण एक साथ जब नहीं रहेंगे तो परस्पर अनुग्रह अनुग्रह तत्व तो नहीं हो सकता है जब परस्पर अनुग्रह अनुग्रह का नहीं होगा शंभुया पिनाथ भी अर्थ दियम आदत मिलकर भी की भी वर्ण अर्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं करते हैं ते पद रूपम एकम असंस्पृश्य संत तादात्म्य अतएव अनुपस्थापयंत आविर्भूता स्थिरभूता अयशलाका कल्पा प्रत्येक अपदसरूपा उच्यन्ते ते पदरूपम एकम असंस्पृशंत ते वर्णा एक पद रूप एक पद रूपम एक को संस्पर्श संबंध करते हैं पद एक वर्ण चार वर्ण तीन वर्ण मिल करके एक साथ हो तो पद बनाएंगे पद का संबंध नहीं हो सकता है तादात्म्य न तादात्म्य वर्ण तादात्म्य ने यदि पदों को संबंध करे अर्थ ज्ञान होगा यदि संबंध नहीं करते हैं वर्ण तो पदात्मक नहीं पद वर्णात्मक है किंतु सब वर्ण मिलने से पद होगा अतएव अनुपस्थापयंत अर्थ का उपस्थापन ज्ञान नहीं करा पाते हैं वर्ण क्या होते आविर्भूता स्थिरभूता प्रकट हो गए फिर नष्ट हो गए एक एक करके अय कल्पा अय लोहे के सलका एक एक अलग अलग गिनती करते हैं प्रत्येकम अपद स्वरूपा प्रत्येक वर्ण लोहे के एक सलका के लिए वर्ण है ना नहीं वर्ण है अविश्वर क्या है एक दो तीन चार अलग अलग है प्रत्येक वही होगा वर्ण वर्ण हो तो रूप नहीं एक एक अवैसल क्या है बहुत एक बार दूसरा गिनती करते हैं प्रत्येक एक एक के साथ दूसरा संबंध नहीं है इसी प्रकार वर्ण सब अलग अलग है अयसल क्या क्या समान सब अलग अलग है प्रत्येकम अपद स्वरूप प्रत्येक वर्ण पद स्वरूप है ना नहीं अपद स्वरूप कहा जाते हैं यदि पुनः पदम एकम तादात्म्य न संस्पर्श वर्णा तत्व नूत दूसरा प्रसंग इतिहा यदि सवर्ण मिल करके एक पद को संबंध करेंगे तादात्म्य न तदात्मा होकर के सब पद मिल करके एक पद सवर्ण मिल करके एक पद एक पद ही वर्ण त्रयात्मक वर्ण पंचात्मक ऐसे होंगे पद के साथ वर्ण का संबंध तदात्म होगा तत्व तो उक्त दोष प्रसंग न दोष प्रसंग नहीं इत्या वर्ण पुनर्क एक पदात्मा भाष्य में वर्ण पुनः एक एक वर्ण वर्ण पुनः एक एक पदात्मा पद स्वरूप होकर के पद के साथ तादात्म होकर के सर्वाभिधान शक्ति प्रचित सर्वस्व अर्थ से अभिधान शक्ति से युक्त होकर के सहकार वर्णांतर प्रतियोगिवाद वैश्वरूप्यम एवं आपन्न ये सहकारी हो जाएगा वर्णांतर वर्णांतर प्रतियोगी वर्णांतर संबंधी होकर के वैश्वरूपम एवं आपन्न विश्वरूप हो जाएगा और वैश्वरूप अनेक रूप हो जाएगा असंख्य पद रूप हो जाएगा पद रूप से हो जाता है पूर्व से उत्तर से पूर्वेण विशेष अवस्थापित पूर्व के साथ उत्तर का उत्तर के साथ पूर्व मिल करके इतम बहवो वर्णा क्रमानुरधिनो अर्थ संकेत अवच्छिन्ना बहुत वर्ण क्रम से उत्पन्न होकर के अर्थ शक्ति से युक्त होते हैं यंत एते सर्वाविधान शक्ति परिवृता गकार उकार औकार विसर्जनिया ग औ विसर्ग मिलकर होते हैं इसे शब्द टीका में देखो सर्वाविधान शक्ति प्रचित सर्वाविधान शक्ति सर्वा भी अभिधान शक्ति भी निश्चित सर्वा अभिधान शक्ति अभिधान शक्ति वर्ण में है जितने अभिधान शक्ति है सबसे युक्त सर्वाधि अभिधान शक्ति भी निश्चित प्रचित इकट्ठी होकर के गौ गण गौरम नग गौ गण गौरम नग किसमें ग है सब में इत्यादि से ही गकार गोत्वादि अर्थाविधायी सुदृष्ट गोत्व कथन भी करता है गण में भी गण को कहता है गौर को कहता है नग को कहता है कितने अर्थ को कहने वाले ग दिखा गया इति तत्त अभिधान शक्ति ग में सब अर्थ को कहने वाले शक्ति है तो गौ गण कहते समय ग एक वर्ण है गौ गण गौर नग गगन कितने अर्थ को कहने के लिए उसकी शक्ति है तत्त अभिधान शक्ति एवं सोम सोम शब्द है शिव क्या शोच ही शोच में ज्वाला है इत्यादि सु ईश्वरादि अर्था विधायी सु सोम शब्द में वो कार्य है ईश्वर वाचक ईश्वर को सोम ईश्वर शिव जी के नाम है उमया सहित सोम में हो जाएगा अर्थ विधायी सु पदेशु ओ वर्ण दुष्ट ओ वर्ण दिखा गया सोम में श्री शिव जी के लिए सोच में ज्वाला के लिए और गो शब्द में गौ कहने के लिए गो गो प्रातिपदिक है सोपी तद अभिधान शक्ति सब अर्थ को कहने के शक्ति है वो में एवं सर्वत्र उहनियम ऐसे सर्वत्र समझना वर्ण सब अभिधान शक्ति से युक्त है विभिन्न अर्थ को कहने के लिए शक्ति है वर्ण में ऐसा मिल करके सर्वाभिधान शक्ति प्रचित वर्ण है तो बहुत अर्थों को कहने के लिए सामर्थ्य है किस अर्थ को कहेंगे सहकारी वर्णांतर प्रतियोगिता वर्णांतर सहकारी होने के कारण प्रतियोगी संबंधी होने से दूसरे वर्ण जिस अर्थ को ये वर्ण जिस अर्थ को मिलकर कहेंगे वो अर्थ लेना दो एक वर्ण में बहुत अर्थ कहने की शक्ति है दूसरे सहकारी आने से क्या होगा उसमें जो शक्ति है दोनों में शक्ति आने वाले लेना बाकी को छोड़ देना उसमें कुछ रहेगा तो तृतीय बनाएगा ऐसे करके अर्थ ज्ञान होगा सहकारी वर्णांतर प्रतियोगिता अन्य वर्ण सहकारी है तो संबंधी होकर के वैश्य रूप में वह अपन अनेक रूप हो जाता है वर्ण टीका में सच एक एक वर्ण गकारादि ग एक वर्ण वो कितने वर्ण है तीन एक है सहकारी यद वर्णांतरम ग का सहकारी वर्णांतर क्या है ओकार विसर्ग ओकार आदि तदेव प्रतियोगी प्रतियोगी का अर्थ प्रति संबंधी एक एक वर्ण का दूसरा वर्ण संबंधी हो गया यस्य प्रतियोगी संबंधी यस्य तत्वत संबंधी हो गया घकार हो गया उकार जिसका प्रति संबंधी हो संबंधी हो तस्य भाव तत्व प्रति प्रतियोगित्व वर्णांतर संबंधी तस्मात वैश्य रूपम इसलिए अनेक रूप हो जाता है वर्ण नानात्व में आपन्न नाना तो है ही नहीं नाना तो जैसे हो गया वर्ण गो गगन में गो में गण में कितने स्थान में अलग अलग सहकारी वर्ण से मिल करके अनेक रूप को जिसे प्राप्त करता है वर्ण न तो नानात्म आपन नाना नहीं होता है नाना तो जैसे हो गया तस् तत्व ग तो ग ही है अनेक कैसे होगा गण में ग है गगन में ग है गऊ में ग है तो अनेक गो हो गया ग तो एक ही है नानात्म इव नानात्व को जैसे प्राप्त क्या नहीं तो वर्ण पे के पूर्व वर्ण पूर्व से उत्तरण उत्तर से पूर्वण संबंध होता है पूर्व वर्ण गकार उत्तर वर्ण क्या होगा हो ना औ औ ओ ओ ग उत्तरेण ओकारेण गकार उत्तरेण ओकारेण संबंध होता है उत्तरण औकार गकार होता पूर्व उत्तर हो गया उकार गणादि पद से व्यावृत्य गणादि पद से हटाया गौ के आगे वो सुनते ही गण गगनादि शब्द नहीं गणादि बुद्धि हट जाएगी हटा करके उत्तर से ओकार उत्तर ओ है गो में वो कहते समय सोम में भी है सोच में भी है कितने स्थान में है किंतु गकार में सोचिरादि पद पे व्यावत्य ओ के उसके पूर्व में ग है तो शोचिन सोम नहीं लेना गो लेना पड़ेगा विशेष से अवस्थापित सहकारी अंतर मिल करके विशेष में स्थापित होता है विशेष से गोत्वाचक गोत्वाचक गोपद है गोत्वाचक गोपद स्फोटे जाति में शक्ति मानते गोकार गोत्व तो गोत्व का वाचक हो गया गो पद स्फुट स्फुट्यंते अभिव्यज्ञते वर्णा अन्य स्फोटा वर्ण की अभिव्यक्ति होती स्फोट सूक्ष्म रूप से गोपद स्फोट अवस्थापित अनुसार बुद्धो जो गौरी एकम पदम अनुसार बुद्धि वर्णों का मेलन बुद्धि उसमें संक्षेप बुद्धि दोनों का मिलन करके जो बुद्धि हुई बुद्धि में गो स्फोट उपस्थित हुआ ओम पूर्ण मद